नमस्कार मित्रों मेरा परिचय देता हूँ संक्षेप में Rahul Mehta right to recall group और हमारा मकसद है भारत में right to recall M R C M jury system ये कानून लाना और आ, उसके प्रचार के संदर्भ में ये वीडियो है आज का वीडियो है कन्वर्शन के ऊपर कि कौन से कानूनों के द्वारा बिना किसी पुलिस के या बिना किसी हिंसा के कन्वर्जन कम हो सकता है मैंने ये जो रेफरेंस मटेरियल लिखा है Rahul Mehta dot com slash three zero one dot H T M फिर से बोलता हूँ Rahul Mehta dot com slash three zero one dot H T M उसके चैप्टर फोर्टी सेवन में कन्वर्जन के ऊपर है कि किस तरह से कन्वर्जन कम किया जा सकता है <clears throat> तो पहले कन्वर्जन का थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देता हूँ कि कन्वर्जन और मल्टीनेशनल कंपनियां ये दोनों साथ साथ चलती है जो अधिकतर भारत के बुद्धिजीवी या बुद्धिजीवी है वो कहते हैं कि भाई मल्टीनेशनल कंपनियों को तो सिर्फ बिजनेस में इंटरेस्ट है पैसे में इंटरेस्ट है ये बात झूठ है उन्हें कन्वर्जन में इतना ही इंटरेस्ट है जितना कि चर्च को है ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी भारत में कन्वर्जन का पूरा प्रयत्न किया था ये जो पेड हिस्टोरियन है रोमिला थापर और वसल वो इस बात को इतिहास में नहीं लिखते लेकिन इसके पूरे पूरे सबूत है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कन्वर्जन के लिए बड़े पैमाने पर प्रचार किया था और प्रचार के कन्वर्जन का रीजन था और उसी के वजह से उन्होंने हिंदुस्तान के सैनिक जो कारतूस इस्तेमाल करते थे उस कारतूस में पहले भैंस की चर्बी का इस्तेमाल होता था और ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर का ऑर्डर था कि भैंस की चर्बी का इस्तेमाल करना बंद करो और गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल शुरू करो ताकि गाय और सुअर की चर्बी कारतूस में आएगी वो कारतूस का जो ऊपर का टोच होता है वो मुंह से निकालना पड़ता है तो गाय और सुअर की चर्बी सैनिकों के मुंह में जाएगी तो उससे सैनिक जो हिंदू सैनिक है उसको हिंदू लोग नाक बार आउटकास्ट कास्ट के बाहर निकाल लेंगे धर्म से बाहर निकाल लेंगे कि भाई तेरे मुंह में गाय की चर्बी गई है अब तू हिंदू रहने के लायक नहीं है और जो मुसलमान सैनिक है मुस्लिम सैनिक है मुस्लिम उन्हें निकाल देंगे और जब तो अपने अपने धर्मों से सैनिकों को निकाल देंगे तो वो सैनिक है वो उनको ईसाई बनाने में सहूलियत मिलेगी तो सैनिकों को को कन्वर्ट किया जा सके इस पर्पस से ही इसी इंटेंशन से ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टरों ने ये ऑर्डर दिया था कि सैनिकों के कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी मिला के डाली जाए तो इससे स्पष्ट होता है कि मल्टीनेशनल कंपनियों का इंटरेस्ट होता है कन्वर्जन में उनका इंटरेस्ट क्यों होता है कि यदि किसी देश में पाँच दस प्रतिशत आबादी को कन्वर्ट कर दिया जाए तो उसको उकसाया जा सकता है उसको बोला जा सकता है कि ये पचानवे परसेंट तो अब तुम्हारे में तुम्हारे लोगों में से नहीं है तुम अलग ये अलग वो तो तुम्हारे दुश्मन है वो तो खराब आदमी है दकियानुसी आदमी है जड़ आदमी है और उनके दमन के लिए इनका उपयोग हो सकता है तो जहाँ भी मल्टीनेशनल कंपनियाँ जाती हैं वहाँ पाँच दस प्रतिशत आबादी को कन्वर्ट करने का प्रयत्न करती है और यदि उन्हें सफलता मिले तो 30, 40, 50 परसेंट आबादी को कन्वर्ट करती है और बाद में जब ट्रेंड आगे बढ़ता है आगे बढ़ता है तो 100 परसेंट कन्वर्ट हो जाता है <clears throat> जब अठारह में कन्वर्जन के बहुत ज़्यादा प्रयत्नों की वजह से विद्रोह हुआ तो उसके बाद विदेशी कंपनियों ने वो कम कर दिया तो यूँ समझो कि लगभग सौ साल तक कन्वर्जन कम हुआ मल्टीनेशनल कंपनियों ने कम प्रयत्न किए लेकिन 1960 के बाद फिर से उन्होंने कन्वर्जन में सहायता करनी शुरू की तो उसका एक उदाहरण आपको देखने मिलेगा साउथ कोरिया में आप गूगल करिए साउथ कोरिया डेमोग्राफी या तो साउथ कोरिया रिलीजन परसेंटेज तो साउथ कोरिया में 1960 में वहाँ पे 95-97 परसेंट पॉपुलेशन बुद्धिस्ट थी आज वहाँ पे 40 परसेंट क्रिश्चियन है और जो बाकी 70 परसेंट बुद्धिस्ट है उनमें से 40 परसेंट अपने आप को बुद्धिस्ट कहने से घबराते हैं इसलिए वो बोलते हैं कि हम किसी धर्म में नहीं मानते नॉन डिनोमिनेशनल नॉन डिनोमिनेशनल यानी कि किसी भी धर्म में नहीं मानते तो 1960 में वहाँ 95 परसेंट बुद्धिस्ट थे अब अपने आप को बुद्धिस्ट करने वाले लोग बचे हैं सिर्फ 30 परसेंट और पुलिस में सरकार में इकोनॉमी में उनका स्थान बहुत ही नीचे है साउथ कोरिया के पिछले तीन प्रेसिडेंट तीनों क्रिश्चियन हैं अभी जो प्रेसिडेंट है उसके वो भी क्रिश्चियन है उसके चौदह मिनिस्टर है उसमें से बारह क्रिश्चियन है सिर्फ एक बुद्धिस्ट है और एक नॉन डिनोमिनेशनल तो इस तरह से वो पूरा देश है वो लगभग कन्वर्ट हो गया और वो मल्टीनेशनल कंपनियों के द्वारा हुआ कि 1960 में जो डिक्टेटर था Park Chung Hee South Korea के डिक्टेटर का नाम था पार्क चंग ही बहुत ही कट्टर बुद्धिस्ट था क्रिश्चियन नहीं था वो कट्टर बुद्धिस्ट था लेकिन उसने देश के स्थानिक उद्योगों को बढ़ावा देने के बजाय उसने पूरा देश की इकोनॉमी मल्टीनेशनल कंपनियों के हवाले करने शुरू की तो मल्टीनेशनल कंपनी आएगी फैक्ट्रियाँ डालेगी लोगों को रोजगार मिलेगा प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी तो मल्टीनेशनल कंपनियों ने दो काम किए वहाँ पे हथियारों की फैक्ट्रियाँ सारी बंद करवा दी तो पार्क चंग ही है वो हथियारों के लिए मल्टीनेशनल कंपनियों का पे उसका डिपेंडेंस बढ़ गई और उसके बाद उन्होंने एजुकेशन सिस्टम खत्म करवा दी वहाँ पे तो लोगों को अपने लड़के मिशनरी स्कूल में भेजने पड़े और नाइनटीन में वहाँ पे फाइव परसेंट बुद्धिस्ट था जैसे मैंने बताया 1980 तक आते आते वहाँ पे बुद्धिस्ट 80 प्रतिशत हो गए और आज वहाँ पे बुद्धिस्ट सिर्फ 30 प्रतिशत है तो अलग अलग जगह फिलीपींस का भी स्टडी कर सकते हैं फिलीपींस में तो 100 परसेंट क्रिश्चियनिटी आ गई करीब करीब अब सवाल आता है भारत का आज की स्थिति और उपाय क्या है तो आज बड़े पैमाने पे कन्वर्जन हो रहा है उसकी सबसे बड़ी वजह है गरीबी गरीबी पिछले दस एक साल में थोड़ी कम हुई है पर दूसरे एंगल से बढ़ गई है दवाइयों का खर्चा बढ़ गया एजुकेशन का खर्चा बढ़ गया इसलिए लोअर मिडिल क्लास भी कन्वर्ट हो रहा है तो गरीबी यदि कम हो तो कन्वर्जन कम हो जाएगा तो गरीबी कम करने का मैं जो मैं जो उपाय मेरे मानने में है वो M R C M mineral royalty for citizen and military है जो मेरा रेफरेंस मटीरियल मैंने बताया Rahul Mehta dot com slash three zero one dot T है तो उसमें चैप्टर फाइव में मैंने एमआरसीएम का ड्राफ्ट दिया है कुछ पांच एक पेज का ड्राफ्ट है वो ड्राफ्ट यदि गैजेट में आ जाता है इसे गैजेट कहते हैं ये गैजेट है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार हर महीने में एक छापती है गैजेट यानी कि मंत्रियों द्वारा दिए गए सेक्रेटरी को आदेश तो ये एमआरसीएम का जो ड्राफ्ट है पांच छह पेज का है ये एमआरसीएम का ड्राफ्ट है चैप्टर फाइव ये यदि गैजेट में आ जाता है यदि गैजेट में छप जाता है तो जो मिनरल रॉयल्टी और सरकार के प्लॉट है मिनरल रॉयल्टी यानी पेट्रोल की रॉयल्टी कोयले की रॉयल्टी लोहे की एल्यूमिनियम की वो रॉयल्टी और सरकार की जमीन के प्लॉट यानी Jawaharlal Nehru University Indian Institute of Management Ahmedabad सारे आई दिल्ली का एयरपोर्ट अहमदाबाद का एयरपोर्ट उससे जो किराया आता है वो सीधा सिटीजन के खाते में जमा होगा तो इससे पर पर्सन पर मंथ पर प्रति व्यक्ति प्रति माह 300 400 500 की आय हो जाएगी और ये कोई हराम की कमाई नहीं है सरकार की प्रॉपर्टी यानी नागरिकों की प्रॉपर्टी सरकार की प्रॉपर्टी नहीं है वो सॉरी नागरिकों की प्रॉपर्टी का किराया और रॉयल्टी सीधी नागरिकों के खाते में जाएगी तो उससे गरीबी कम हो जाएगी तो कन्वर्जन कम हो जाएगा दूसरा जो कानून जो मैं प्रपोज करता हूँ कन्वर्जन कम करने का वो है पेटेंट के कानून चेंज किए जाए मल्टीनेशनल कंपनियां जो है दवाइयां बनाने वाली कंपनियां उन्होंने 1999 में 2000 में बीजेपी के एमपी और बाकी कांग्रेस के एमपी भी इसमें इन्वॉल्व थे सीपीएम के भी एमपी इन्वॉल्व थे उनको अरबों रुपया रिश्वत दिया और पेटेंट के कानून पास करा लिए वो पेटेंट के कानून थोड़े बहुत कमजोर थे तो 2004 में उन्होंने ये कांग्रेस और सीपीएम के एमपी को रिश्वत दी और पेटेंट के दूसरे कानून पास करा लिए तो उसकी वजह से अब जो पेटेंटेड ड्रग्स है उसकी कॉस्ट सीधी बीस गुना होती है कि पहले जो दवाई एक हजार रुपए में इंडिया में मिल सकती थी वो दवाई आज पेटेंट के बिना बन नहीं सकती पेटेंट के बिना बन नहीं सकती इसलिए रॉयल्टी देनी पड़ती है या तो पार्टनरशिप करनी पड़ती है इसलिए वो दवाई की कीमत सीधी पंद्रह हजार होगी तो 1971 में जो देवी माता देवी इंदिरा अम्मा ने जो कानून बनवाया था पेटेंट का उसमें पूरी छूट थी कि पेटेंट अमेरिका की कोई दवाई हो या कहीं भी ब्रिटेन की दवाई हो तो भारत के फार्मास्यूटिकल कंपनी उसका उत्पादन कर सके इंदिरा गांधी ने सिर्फ देवी इंदिरा अम्मा ने सिर्फ प्रोसेस पेटेंट रखा था प्रोडक्ट पेटेंट नहीं रखा जबकि 2004 में सांसदों ने रिश्वत लेके प्रोडक्ट पेटेंट का कानून पास कर दिया तो प्रोडक्ट पेटेंट आने से क्या हुआ कि दवाइयों की कीमत बीस गुना हो गई तो जो अब अमीर आदमी है जो लाखों रुपया खर्च कर सकता है दवाई को तो उसे तो शायद पता भी नहीं चला होगा कि दवाई की कीमत बीस गुना हो गई पर जो गरीब आदमी है उसके पास दवाई खरीदने के पैसे नहीं है तो वो मिशनरी के पास जाना शुरू कर दिया उसने तो वहाँ पे कन्वर्जन बढ़ गया तो हमें गैजेट में छपवाना चाहिए कि product patent is hereby cancelled एक लाइन आ जाती है गैजेट में कि product patent is hereby cancelled patent law of 2004 is concerned, to patent law of 1999 is concerned and patent law as passed in 1971 is restored. यानी कि 1972 का जो patent का कानून है वो दोबारा उसको pass किया जाता है ये चार लाइन आ जाती है गैजेट में तो दवाइयों की कीमत अभी जो है उससे उसमें 70-80 परसेंट कम हो जाएगी और उससे कन्वर्जन कम हो जाएगा तो एक एमआरसीएम का कानून गैजेट में आना चाहिए एमआरसी के कानून के आने से गरीबी कम हो जाएगी फिर ये पेटेंट का कानून कैंसिल होना चाहिए उसके बाद एजुकेशन एजुकेशन में मेरा प्रपोजल है right to recall district education officer का पिछले बीस एक साल में एजुकेशन में बहुत बड़ी गिरावट आई है जो मल्टीनेशनल कंपनियों के मालिक है रॉकफेलर वगैरह उन्होंने ये सारे जो मिनिस्टर है सीएम मिनिस्टर फिर वो कपिल सिब्बल हो या स्टेट के सीएम हो जैसे गुजरात के आनंदी बहन हो या तो मध्य प्रदेश के सीएम हो या जो भी सीएम हो उनको मल्टीनेशनल कंपनियों के मालिक उन्हें बड़े पैमाने पर घूस देते हैं और घूस दे के एजुकेशन का सिलेबस खराब करवाते हैं स्कूल का सिस्टम खराब करवाते हैं एजुकेशन एग्जामिनेशन सिस्टम खराब करवाते हैं ताकि एजुकेशन का स्तर बिगड़ जाए मैं स्पेसिफिक एग्जाम्पल देता हूँ कि अभी बहुत सारे स्टेट बोर्ड ने और सेंट्रल बोर्ड ने एक फतवा निकाला मतलब टीचरों को ऑर्डर दिया है कि एट स्टैंडर्ड तक किसी को फेल नहीं करने का मतलब एट स्टैंडर्ड तक पास कर देना है वो भले पेपर खाली छोड़ दे तो भी उसे पास करना है तो अब स्टूडेंट पढ़ेंगे नहीं उससे ज्यादा नुकसान क्या होगा कि टीचर पढ़ाएंगे नहीं अब टीचर को पता है कि उसके लड़के पास होने वाले हैं तो पेरेंट कंप्लेन करने नहीं वाले तो टीचर पढ़ाता नहीं है तो मैथमेटिक्स और साइंस ये सब्जेक्ट का बेस तोड़ दिया ये जो कानून पास किया स्टेट गवर्नमेंट ने और कपिल सिब्बल जैसे रिश्वत खोर लोगों ने तो उसकी वजह से एजुकेशन का पूरा बेस उन्होंने खराब कर दिया वो ऐसा कानून उन्होंने क्यों पास किया क्योंकि तो मल्टीनेशनल कंपनियों को भारत का एजुकेशन खत्म करना है ताकि भारत में कम इंजीनियर बने कम वैज्ञानिक बने तो भारत का डिपेंडेंस मल्टीनेशनल कंपनियों पर बढ़ेगा तो और उसके बाद दसवीं का बोर्ड कैंसिल करने की बात चल रही है शायद कैंसिल हो भी गया मुझे अंदाज नहीं है ये साल बोर्ड होगा या नहीं दसवीं कक्षा में पर बहुत सारे स्टेट बोर्ड और सेंट्रल बोर्ड है वो दसवीं कक्षा का बोर्ड कैंसिल करना चाहते हैं तो बोर्ड भी कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा टीचर भी पढ़ाएगा नहीं कि मुझे एग्जाम लेना है मुझे पास करना है मैं सबको पास कर दूंगा तो ना स्टूडेंट पढ़ेगा ना टीचर पढ़ाएगा और उसके बाद उन्होंने कुछ फतवे निकाले हैं जो पेपर सेटर होते हैं एग्जामिनेशन के उनको ऑर्डर दिया गया कि भाई ट्वेल्थ का जो पेपर होगा या टेंथ का पेपर होगा उसके सारे सवाल आपको टेक्स्ट बुक में से पूछने हैं और आसान सवाल ही पूछने मुश्किल सवाल पूछने नहीं है तो आसान सवाल पूछेंगे मुश्किल सवाल पूछेंगे नहीं बुक्स में पूछेंगे तो लड़का और कम पड़ेगा तो एक तो सिलेबस मैं मैंने 1986 में ट्वेल्थ का एग्जाम दिया था उसका सिलेबस और मैंने एक आध साल पहले ट्वेल्थ की टेक्स्ट बुक देखी साफ साफ दिख रहा था कि सिलेबस 30 परसेंट कम कर दिया और एग्जामिनेशन uh, में तो मुश्किल सवाल मुझे दिखे नहीं अब इससे एजुकेशन का स्तर गिरेगा अब I I T JEE cancel करने की बात चल रही है शायद कैंसिल कर भी नहीं तो मल्टीनेशनल कंपनियों ने रिश्वत दी होगी ये आईआईटी काउंसिल ने जो आईआईटी के चेयरमैन वगैरह होते हैं उनको कि भाई ये पैसा लो और जेई कैंसिल करो खत्म करो जेई जेई का क्या होता था कि कुछ चार लाख लोग जेई देते थे जिसमें से दस हजार सिलेक्ट होते थे तो भले दस हजार सिलेक्ट हो लेकिन एक लाख लोग डेढ़ लाख लोग तमीज से पढ़ते थे कोशिश करते थे कि वो दस हजार में सिलेक्ट हो जाए तो वो पढ़ते थे तो उनका स्तर ऊपर होता था मुश्किल सवाल अटेम्प्ट करेंगे मुश्किल सवाल को हल करने की कोशिश करेंगे हल हुआ तो ठीक है नहीं हल हुआ तो उसका सॉल्यूशन देखेंगे कोचिंग के लिए जाएंगे तो उससे स्टूडेंट का मैथमेटिक्स और साइंस का लेवल है वो बढ़ता था अब वो मुश्किल सवाल एग्जाम में आएंगे नहीं क्योंकि ए आई ट्रिपल में तो आसान सवाल आते हैं उसमें तो मुश्किल सवाल देने का कोई फायदा नहीं है तो ए आई ट्रिपल में आसान सवाल आएंगे तो मुश्किल सवाल हल करने की मुश्किल सवाल हल करने का जो प्रयत्न करते थे ग्यारहवीं बारहवीं के विद्यार्थी वो प्रयत्न ही नहीं करेंगे तो उनका स्तर ऊपर नहीं आएगा तो इस तरह से एजुकेशन का लेवल दिन ब दिन खराब कर रहे हैं तो एजुकेशन का स्तर जो खराब हो रहा है उसकी वजह से क्या हुआ कि जो लोअर मिडिल क्लास के लड़के हैं लोअर मिडिल क्लास के पेरेंट है वो अपने लड़कों को मिशनरी स्कूल में भेजना शुरू किया क्योंकि तो उनके पास तो पैसा नहीं है जो सरकारी स्कूल है वो सब कबाड़े खाने हो गए वहाँ पे कुछ पढ़ाई होती नहीं है ना टीचर पढ़ाता है ना एग्जाम ढंग से होते हैं हाँ, ना स्कूल ठीक से चलते हैं और उनके पास तो पैसा है नहीं कि आईसीएसई e के स्कूल में भेजे आईसीएसई e का सस्ते से सस्ता स्कूल होगा साल का अस्सी हजार रुपये फी वाला तो उनके पास तो इतना पैसा है नहीं कि अपने लड़कों को महंगे ट्रस्टों के स्कूल में भेज सके तो उन्होंने अपने लड़कों को मिशनरी स्कूल में भेजना शुरू किया तो उनके हाँ, तो इस तरह से कन्वर्शन बढ़ गया ये ये साउथ कोरिया में जो 1960 में हुआ वही आज भारत में हो रहा है साउथ कोरिया में भी मल्टीनेशनल कंपनियों ने अधिकारियों को रिश्वत दे दे के वहाँ की जो गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम थी वो खत्म करवा दी और गवर्नमेंट की एजुकेशन सिस्टम खत्म हो गई तो वहाँ के जो लोअर मिडिल क्लास के लोग थे मिडिल क्लास के लोग थे उन्होंने अपने लड़कों को मिशनरी स्कूल में भेजना शुरू किया और उससे वहाँ पे कन्वर्जन बढ़ गया और वही आज इंडिया में हो रहा है तो इसका उपाय क्या है इसका उपाय है right to recall district education officer और right to recall education minister right to recall district education officer right to recall education minister यदि right to recall district education officer आता है तो जिले के स्कूल सरकार के स्कूल है वो ठीक ठाक चलने लगेंगे टीचर टाइम से आएगा पढ़ाएगा लड़कों को किताबें मिलेगी उनके एग्जाम टाइम से होंगे एग्जाम टाइम से होंगे तो लड़का पढ़ेगा थोड़े बहुत लड़के फेल भी होंगे तो अब हमें यदि सौ लोगों का स्तर ऊपर लाना है सौ लोगों का स्तर ऊपर लाना है तो एग्जाम तो लेनी पड़ेगी एग्जाम नहीं लोगे तो कोई पढ़ेगा नहीं पढ़ोगे नहीं तो स्तर ऊपर नहीं आएगा तो एग्जाम लोगे तो दो चार लोग फेल भी होंगे यदि एग्जाम में सबको पास कर दोगे तो कोई पढ़ेगा नहीं तो स्तर ऊपर नहीं आएगा तो हो सकता है दो पांच लोग फेल हो आ, तो right to record district education officer आने से जो सरकार के स्कूल है सस्ते ट्रस्टों के स्कूल है वो सुधर जाएंगे एजुकेशन में करप्शन कम हो जाएगा और right to recall education minister आएगा तो सिलेबस सुधर जाएगा अभी ये जो सिलेबस बिगाड़ दिया फिर टेंथ का बोर्ड कैंसिल कर दिया फिर ये आईआईटी जेई के कैंसिल होने की बात है वो क्यों ये सब बदमाशी हो रही है वो इसलिए क्योंकि we don't have right to recall education minister ना स्टेट लेवल पे ना सेंट्रल लेवल पे ये right to recall education minister हुआ तो ऐसे बदमाश एजुकेशन मिनिस्टर को कपिल सिब्बल उनको हम नौकरी से निकाल सकते हैं और ऐसे किसी ईमानदार आदमी को एजुकेशन मिनिस्टर बना सकते हैं जो कि एग्जामिनेशन को कंटिन्यू करे एग्जामिनेशन का स्तर सुधारे वगैरह अब तो एजुकेशन इंप्रूव होगा एजुकेशन इंप्रूव होगा तो कन्वर्जन कम हो जाएगा और आ, जो कुछ फालतू सजेशन है मैं उसके बारे में बोलना चाहूंगा कुछ लोग फालतू सजेशन में देते हैं कि काफी मैंने विश्व हिंदू परिषद आरएसएस बीजेपी इनके कार्यकर्ताओं के संपर्क में आता हूँ तो मैंने उन्हें बताया कि भाई ये गैजेट नोटिफिकेशन है तो उन्होंने बोला तो ये तो 20 साल में हमने कभी देखा ही नहीं मैंने कहा देखा नहीं क्योंकि आपके नेता है वो आपको अनपढ़ गंवारी रखना चाहते हैं वरना कोई भी ईमानदार नेता होता तो सबसे पहले कार्यकर्ताओं को ये दिखाता मैंने अपना प्रचार शुरू किया राइट टू रिकॉल के कानून का तो जैसे ही मुझे इस डॉक्यूमेंट के बारे में पता चला कि भाई ये तो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है सरकार के अंदर तब से आप तक मैं जितने भी कार्यकर्ता आते हैं तो पहले उन्हें मैं ये डॉक्यूमेंट देता हूँ मेरा जो रेफरेंस मटेरियल है उसके भी फर्स्ट चैप्टर के चौथे पाने पर ही इसका इन्फॉर्मेशन है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है गैजेट नोटिफिकेशन और कोई भी कार्यकर्ता को नागरिक को यदि समाज में सरकार में परिवर्तन चाहिए तो इसमें क्या छपवाना वो पहले सोचना चाहिए तो मैंने बताया कि भाई आपके नेता क्या बताते हैं कन्वर्जन करने के लिए रोकने के लिए तो वो कहते हैं कि बस मारपीटाई करो और कुछ करने की जरूरत नहीं है लट लेके पहुंचाओ तोड़फोड़ करो तो मैंने कहा कि भाई लट लेके पहुंचाओगे तोड़फोड़ करोगे तो ये बताओ कि जब अमेरिका की सेना आएगी तब तुम्हारे लट क्या काम आएंगे ये चौथे मुद्दे पे आता हूँ मैंने कन्वर्जन रुकवाने के लिए तीन बात कही कि गरीबी कम करने के लिए एमआरसीएम का कानून फिर दवाइयाँ सस्ती हो उसके लिए पेटेंट का कानून कैंसिल किया जाए और राइट टू रिकॉल एजुकेशन अब मैं चौथी बात पे आते हूँ कि भारत की सेना को मजबूत करना चाहिए भारत को सेना की मजबूत और कन्वर्जन को क्या लेना देना कि भाई आज नहीं तो कल अमेरिका की सेना आने वाली है कन्वर्जन करने के लिए तो कानून बना दो कि पुलिस ये करेगी कोर्ट ये करेगी चलो कानून बना दिया कन्वर्जन रुक गया जैसे इराक ने रोका था इराक ने कानून बना के पुलिस के जरिए अदालत के जरिए कन्वर्जन रोक दिया लीबिया ने रोक दिया इराक में जब अमरीका की सेना आई दो में तब पुलिस अदालत तो कुछ बची नहीं आज इराक की परिस्थिति क्या है वहाँ बीस लोग क्रिश्चन हो गए कैसे अमरीका की सेना ने उनके बहुत सारे हथकंडे सेना बंदूक के नोक पे किसी को ईसाई नहीं बनाती उनके तरीके हैं कि पहले जाके वहाँ पे सब तोड़फोड़ कर देंगे आदमी भूखों मरने शुरू हो जाएंगे दवाइयाँ नहीं मिलेगी इराक में अभी 95 परसेंट लोगों के घर पे पीने का पानी नहीं आता बिजली नहीं आती सब बदाली में जी रहे हैं और फिर सेना तो तोड़फोड़ करके मार पिटाई करके चली जाएगी इराक में कुछ तीन करोड़ की आबादी में कुछ चालीस लाख लोग अंधे हैं क्योंकि युद्ध में जो तरह तरह के हथियार फेंके गए उसकी वजह से कुछ तीस चालीस लाख लोग अंधे हो गए हैं पार्शली और होली कुछ तीस चालीस लाख लोग एक या दो हाथ से अपाहिज हो गए हैं तो इतनी वहाँ पे बदहाली हो गई है और फिर सेना जाके वहाँ बदहाली कर आदमियों को एकदम भिकमंगा बना देगी और फिर मिशनरी आकर उनकी सेवा शुरू करेंगे और मिशनरी फिर धीरे धीरे बोलते हैं कि भाई ईसाई बनोगे तो थोड़ी ज्यादा दवाई देंगे ज्यादा एजुकेशन देंगे और जो आदमी एकदम गरीब हो चुका है टूट चुका होता है मेंटली फ्रस्ट्रेट हो चुका होता है उसको कन्वर्ट करने में आसानी रहती है तो अंत में अंत में अमेरिका की सेना तो आएगी आज नहीं तो कल कन्वर्ट करने के लिए तो उस दिन तुम्हारे ये तोड़फोड़ का काम क्या काम आएगा तुम्हारे पास ऐसी क्या चीज है कि जो अमेरिका की सेना को रोक सके तो उसके लिए भारत की सेना को मजबूत करना और भारत के नागरिकों में सिविल डिफेंस जो बोलते हैं कि हर एक आदमी के पास बंदूक होनी चाहिए स्विट्जरलैंड में कानून है स्विट्जरलैंड में कानून है कि 21 और 45 साल के हर एक आदमी के पास बंदूक होना कंपलसरी है उसके घर पे यदि उसके घर पे बंदूक नहीं हुई तो उसको सजा की जाती है और कभी-कभी रैंडम चेकिंग होता है कि रात को 12 बजे 1 बजे पुलिस आके आपको दरवाजे पे दस्तक देगी और बोलेगी कि भाई दिखाओ कि तुम्हारे घर पे बंदूक है यार और यदि बंदूक नहीं हुई तो उस आदमी को जेल की सजा होती है तो ये स्विट्जरलैंड का कानून भी भारत में होना चाहिए कि हर एक आदमी के पास बंदूक हो ताकि जिस दिन चीन की या पाकिस्तान की या अमेरिका की सेना आती है तो हम आ, उन्हें रोक सकें और डिटरेंस यानी कि सेना को भय होगा कि भाई हमारे लाखों सैनिक मरेगी मरेंगे तो वो आने का सपना मनसूबा आप छोड़ देगी तो जो कन्वर्शन का आखिरी मुकाम है फाइनल हुक्म का पत्ता जिसे कहते हैं ट्रंप कार्ड वो है अमेरिका की सेना कि अमेरिका के जो मिशनरी का मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो सारे हथकंडे आजमाती है दवाई एजुकेशन और जो सब कुछ काम ना चले तो अंत में वो अमेरिका की सेना को भेजती है कि यहाँ जाके तोड़फोड़ करो और कन्वर्जन में मदद करो तो ये रोकने के लिए हमें भारत की सेना को मजबूत करना चाहिए सेना को मजबूत करने के लिए क्या-क्या कानून हमें गैजेट में डालने चाहिए उसका लिस्ट मैंने दिया है कौन-कौन से कानूनों से सेना मजबूत हो सकती है वो मैंने chapter 24 Rahul Mehta dot com slash three zero one dot H T M उसके चैप्टर 24 में दिया है R R G proposal to improve military industrial complex ये हमारी आ, सेना और हथियार बनाने की फैक्ट्रियां दोनों हथियार बनाने की फैक्ट्रियां बहुत इंपॉर्टेंट है उसी के ऊपर सेना चलेगी यदि हम सिर्फ हथियार इंपोर्ट कर रहे हैं तो जिस दिन युद्ध होगा उस दिन जो कंट्री जिस देश ने हमें हथियार भेजे हैं वो देश सौ की कीमत तो नहीं लगा शायद सौ तो पूरा देश हड़प लेगा कि भाई पूरा देश हमारे नाम कर दो वरना हथियार भेजेंगे नहीं स्पेयर पार्ट नहीं भेजेंगे या तो हथियार है वो डिसेबल कर देंगे का मतलब इलेक्ट्रॉनिकली डिसेबल कर देंगे तो जो लोग कन्वर्जन कम करना चाहते हैं उन्हें जितनी जल्दी हो सके सेना को मजबूत करने के प्रयत्नों पर ध्यान देना चाहिए अब जो बकवास उपाय है उसके बारे में मैं कुछ बताऊंगा कि एक बकवास उपाय जाता है बताया जाता है कि एक हिंदूवादी आदमी को डिक्टेटर बना दो भारत का फिर वो अडवाणी हो या मोदी हो या जो भी हो कि भाई ये एक हिंदूवादी आदमी है उसको आप डिक्टेटर बना दो तो कन्वर्शन रुक जाएंगे ये बात झूठ साबित हो चुकी है इतिहास में कि साउथ कोरिया में पार्क चंग ही आप गूगल करना पार्क चंग ही जो डिक्टेटर बना था नाइनटीन में साउथ कोरिया का वो एक बहुत ही कट्टर बुद्धिस्ट था और उसने कन्वर्जन रोकने की कोशिश की और उसकी वजह से कन्वर्जन रुक गए 20 साल तक 15 साल तक लेकिन बाद में जो 95 परसेंट बुद्धिस्ट है आज उसी की नीतियों की वजह से 30 परसेंट हो गए डिक्टेटरशिप से कैसे कन्वर्जन शॉर्ट टर्म में कम हो जाते हैं शॉर्ट टर्म में कम हो जाते हैं और लॉन्ग टर्म में बढ़ जाते हैं लॉन्ग टर्म में कैसे बढ़ जाते हैं कि जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उनका काम एक तरह से आसान हो गया आसान कैसे हो गया कि right to recall district education officer है तो एजुकेशन ऑफिसर को तोड़ना मुश्किल है उसको करप्ट करना मुश्किल है क्योंकि लोगों को पता लग जाएगा लोग उसे बदल देंगे जबकि डिक्टेटरशिप में डिक्टेटर के आसपास ऐसे आदमी बिठा दो जो कि नारेबाजी करते हो बहुत अपने आप को देशभक्त दिखाते हो पर अंदर से करप्ट हो ईमानदार डिक्टेटर मिल जाएगा डिक्टेटर की ईमानदारी में मैं शंका नहीं करूंगा लेकिन डिक्टेटर अकेला तो पूरा देश चला नहीं सकता उसको हजार दो हजार पांच हजार लोगों पे भरोसा करना पड़ेगा अलग अलग लेवल पे तो उसके जो भरोसे के आदमी जिस आदमी पे भरोसा कर रहा है उनमें से आधे या तो एक चौथाई को भी करप्ट कर दो अंदर से एजेंट बना दो और उसमें गलत नीतियां डलवा दो गलत नीतियां जो कि शॉर्ट टर्म में बेनिफिट करती है शॉर्ट टर्म में कैसे बेनिफिट की जैसे भाई फूड की सब्सिडी कम कर दी तो शॉर्ट टर्म बेनिफिट आएगा कि सरकार का खर्चा कम हो गया लेकिन अब गरीब आदमी कहां जाएगा मिशनरी के पास जाना पड़ेगा एजुकेशन में खर्चा कम कर दो एजुकेशन में गवर्नमेंट का जो सेटअप है वो तोड़वा दो तो इस तरह से ये जो गलत पॉलिसियां हैं वो डिक्टेटरशिप में धड़ल्ले से चलती है क्योंकि डिक्टेटर एक एक चीज पे तो ध्यान नहीं दे सकता एक आदमी डिक्टेटर बना तो वो तो ये नहीं देख सकता कि भाई फर्स्ट स्टैंडर्ड का सिलेबस कैसा है सेकंड का सिलेबस कैसा है टेंथ का सिलेबस कैसा है ट्वेल्थ का सिलेबस में मैथ्स कितना अच्छा है फिजिक्स कितना अच्छा है एग्जामिनेशन में पेपर ठीक से आ रहे हैं या नहीं कोचिंग ठीक से हो रहा है नहीं या टीचिंग ठीक से हो रहा है नहीं वो तो एक एक चीज देख नहीं सकता तो जितनी चीज उसके ध्यान में आएगी ओवरऑल इकोनॉमी है या तो थोड़ा बहुत मिलिट्री है उतने में ठीक ठाक काम चलेगा लेकिन जो जो चीज से उसका ध्यान नहीं जाएगा वहां पे वो गलत पॉलिसी डाल के उस एरिया के लोगों को नुकसान जाना शुरू होगा तो अपने आप वो लोग मिशनरियों की शरण में जाने शुरू हो जाएंगे तो डिक्टेटरशिप से शायद शॉर्ट टर्म में कन्वर्जन कम हो जाए पर लॉन्ग टर्म में कैसे फायदा होगा कि डिक्टेटर के स्टाफ के द्वारा वो देश में ऐसी गलत नीतियां डलवा देंगे कि जिससे एजुकेशन खत्म हो जाए, दवाइयां महंगी हो जाए और जो गरीब आदमी है लोअर मिडिल क्लास है उसको मिशनरियों की पाना में जाना पड़े और मिशनरी वो शुरुआत में बोलते हैं कि हम सिर्फ सेवा करेंगे धर्म की बात नहीं करते वो सिर्फ एजुकेशन हेल्थ तो उसकी सेवा करते हैं और एक बार जब उनकी तादाद पंद्रह बीस प्रतिशत हो जाए पंद्रह बीस प्रतिशत उसके बाद वो आ, बड़े पैमाने पे डिस्क्लोज करते हैं और एक बार पंद्रह बीस प्रतिशत तादाद हो जाए तो कुछ आ, जो जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी लड़ने की ताकत एकाएक गिर जाती है कि भाई पंद्रह परसेंट बीस परसेंट लोगों से अब कैसे लड़ा जाए जो देश में अभी वर्तमान सिचुएशन है उसमें गुजरात में कन्वर्जन कम हुआ है पर गुजरात में भी जो गरीब एरिया है डांग और फिर गुजरात और राजस्थान की बॉर्डर पे वहाँ काफी कन्वर्जन हो रहा है क्योंकि तो वहाँ गरीबी ज्यादा है दवाइयाँ वहाँ बहुत महंगी है यानी वहाँ के लोगों की आय दवाइयों का तो वही भाव है जो अहमदाबाद में तो वहाँ के लोगों की जो आमदनी है उसके हिसाब से दवाइयाँ उनके लिए बहुत महंगी है और वहाँ पे एजुकेशन एकदम टूट चुका है कुछ कुछ डांग के जो इलाके हैं वहाँ तो मेरे दोस्त कहते हैं कि वहाँ पे मिशनरी स्कूल के सिवा कहीं पढ़ाई ही नहीं होती जो सरकारी टीचर है वो तो बस स्कूल के रजिस्टर पे होता है वरना वो सिटी में रहता है सिटी में ट्यूशन कराता है जो भी कराता है पर स्कूल में तो बस वो महीने में एक दो बार आता है अटेंडेंस देने के लिए और सरकारी स्कूल पूरे टूट चुके हैं तो right to record district education officer आएगा तो ये ट्रेंड को हम रिवर्स कर सकते हैं और उसके सिवा इंडिया में अभी आंध्र प्रदेश में कुछ मैंने जहाँ तक मेरे जो दोस्त हैं वो मुझे अंदाज देते हैं कि कुछ 15 परसेंट लोग कन्वर्ट हो चुके हैं दलितों में कन्वर्जन 30-40 परसेंट जितना हो चुका है तो अब इसके उपायों में ये मैंने जो चार उपाय बताए एक तो M mineral royalty for citizen in military यानी कि एक पांच पांच पेज गैजेट में छपवाया जाए जब मैं उपाय का बात करता हूँ यानी उपाय की बात करता हूँ यानी गैजेट में हमें क्या छपवाना चाहिए कि जिससे समस्या कम हो सके मैं इन सब उपायों में नहीं बोलता कि लोगों को नारेबाजी करनी चाहिए रैलियां निकालनी चाहिए वो ठीक है साल में एक आध बार रैलियां निकालनी चाहिए बाकी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता या अनशन पर बैठना चाहिए या लोगों में जागृति खड़ी करनी चाहिए लोग जागरूक है तुम्हारे पास उपाय हो तो बताओ वरना बस इसी बात पे टाइम पास करना है कि हमें लोगों में जागृति बढ़ानी है लोगों में जागृति बढ़ानी है तो तो टाइम वेस्ट की बात होगी तो मैं जब उपाय की बात करता हूं यानी कि सरकार के गैजेट में क्या छपवाया जाए क्या छपवाया जाए कि जिससे समस्या कम हो सकती है तो हम एमआरसीएम का कानून यदि इस गैजेट में छपवा देते हैं तो गरीबी कम हो जाएगी कन्वर्जन कम हो जाएगा पेटेंट का कानून का कैंसिलेशन हम गैजेट में छपवा देंगे तो दवाइयों के दाम कम हो जाएंगे कन्वर्जन कम हो जाएगा right to recall district education officer और right to recall district uh, right to recall state education minister right to recall central education minister तो education सुधर जाएगा conversion कम हो जाएगा सेना को मजबूत करने के मैंने काफी सारे प्रपोज गैजेट नोटिफिकेशन चैप्टर 26 में दिए इसमें कि टैक्स का कानून हथियारों के उत्पादन से कानून हर एक आदमी के पास बंदूक होना कंपलसरी करना चाहिए टेंथ स्टैंडर्ड से बंदूकों की ट्रेनिंग शुरू करनी चाहिए एट्थ या टेंथ स्टैंडर्ड से हथियारों के बारे में पाठ्यपुस्तक में एक कोर्स होना चाहिए वेपन इंडस्ट्रीज के ऊपर जिसमें सारे हथियारों के बारे में उन्हें इन्फॉर्मेशन दी जाए और आ, आ, दूसरा ये जो गलत उपाय बताया जाते हैं कि तोड़फोड़ करना फिर डिक्टेटर डाल दो देश में और और कुछ करने की जरूरत नहीं है बस या तो कन्वर्जन हो रहा है कन्वर्जन हो रहा है उपाय उपाय की बात मत करो और एंड में इलेक्शन के दो दिन पहले कि भाई अब तो एक ही उपाय है क्या उपाय है कि बस इस पार्टी को वोट दे दो और कोई उपाय ना सोचना है ना बात करनी है तो ये सारे उपायों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अब हमें दूसरे देशों की स्थिति देखें तो वहाँ कन्वर्जन काफी बढ़ रहा है नेपाल में ऐसा कहा जाता है कुछ बीस परसेंट कन्वर्जन हो गया और यही सारे कारण थे दवाइयाँ वहाँ महंगी हो गई एजुकेशन बिगड़ गया तो लोग अपने लड़कों को मिशनरी स्कूल में भेजना शुरू किया तो वहाँ पे 15-20 परसेंट जितना कन्वर्जन हो गया इराक में जो कन्वर्जन हुआ वो अमेरिका की सेना की वजह से इराक में कुछ 15 परसेंट कन्वर्जन हो गया है लीबिया में अभी शुरू हुई है प्रोसेस तो वहाँ भी ये प्रोसेस चलती रही तो पाँच दस साल में पहुँच जाएगा दस पंद्रह परसेंट तक और जो उसकी वजह से और भी दूरगामी परिणाम ये आ सकते हैं कि जो मुस्लिम कंट्रीज है ईरान सऊदी अरेबिया कुवैत और अल्जीरिया लीबिया वहाँ पे अब ये पोल खुल चुकी है कि भाई अमेरिका का उद्देश्य क्या है कि अमेरिका का उद्देश्य जो भी कुछ लोग तो पिछले 50 साल पहले भी जानते थे कि भाई ये कंट्री के दो उद्देश्य है कि एक तो पूरी दुनिया का जो मिनरल रिसोर्सेस है वो कैप्चर करना खास करके पेट्रोल कि पूरी दुनिया के जो पेट्रोल के कुएं हैं वो कैप्चर करना पूरी दुनिया में ईसाई धर्म फैलाना अमेरिका अपने अंदर अमेरिका के अंदर सेक्युलरिज्म है और काफी हद तक जेन्यून सेक्युलरिज्म है और अमेरिका का जो दूसरों देशों में रवैया है behaviour of America in outside world वो 100 परसेंट धर्मांध राष्ट्र जैसा है क्योंकि पूरे दुनिया में सारे धर्मों को खत्म करना है और सारे दुनिया में एक ही धर्म होना चाहिए क्रिश्चियनिटी ये अमेरिका का एक कंट्रोलिंग फॉरेन पॉलिसी एजेंडा है और उसके बाद कि सारे देशों की एजुकेशन सिस्टम खत्म करनी है कि जितने भी देश उसके अंडर में आते हैं वहाँ पे वो साइंस और मैथमेटिक्स की एजुकेशन सिस्टम को तोड़ देता है ताकि वो देश वैज्ञानिक और इंजीनियर टेक्नीशियन पैदा ना कर सके जो देश इंजीनियर टेक्नीशियन वैज्ञानिक पैदा नहीं कर सकता वो देश हथियार भी पैदा कर सकता हथियार भी पैदा कर सकता तो वो देश लड़ नहीं सकता और सेना के लिए वो देश 100 परसेंट अमरीका पर डिपेंडेंट हो जाएगा और टेक्नोलॉजी भी उस देश में खत्म कर दो ताकि उस देश को पश्चिमी देशों की टेक्नोलॉजी पे उसके प्रोडक्ट्स पे डिपेंडेंट करना पड़े तो ये उसके तीन मुख्य उद्देश्य हैं और उसकी वजह से अब मुस्लिम कंट्री है वो थोड़े घबरा गए कि जैसे ईरान ने देखा कि भाई इराक के पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं था लीबिया के पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं था तो अमेरिका ने उसके तेल के कुएं सारे हड़प कर लिए और वहां के लोगों को बड़ी संख्या में लाखों की संख्या में कत्लेआम कर दिया और वहां ईसाई धर्म फैला रहा है तो उसकी वजह से अब ईरान के पास कोई चारा नहीं बचा कि वो भी अपनी सेना मजबूत करे न्यूक्लियर वेपन बनाए क्योंकि न्यूक्लियर वेपन के बिना तो वो अपने आप को बचा नहीं सकता तो उसके झगड़े में झगड़ा अमेरिका का और ईरान का और यदि उनमें युद्ध हो गया तो वो युद्ध फैलता फैलता इंडिया तक भी आ सकता है कि पाकिस्तान को ईरान को सपोर्ट करना पड़ेगा अमेरिका के पास इतनी पाकिस्तान के अंदर ताकत है कि वो पाकिस्तान को उकसा सके मोटिवेट कर सके कि वो भारत पे हमला कर दे तो पाकिस्तान भारत पे हमला करेगा तो जाहिर है भारत के पास हथियार तो है नहीं तो भारत को अमेरिका को बोलना पड़ेगा कि भाई हमें हथियार दो और इसमें यदि चीन ने ईरान का साथ दिया और चीन को शायद ईरान का साथ देना पड़ेगा चीन को क्यों ईरान का साथ देना पड़ेगा कि अमेरिका ने जो लीबिया कैप्चर कर लिया तो उसमें चीन का ट्रिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट अमेरिका ने अपने हाथों में ले लिया मतलब हाथों में ले लिया तो तोड़ दिया खत्म कर दिया तो चीन को यू समझो कि एक ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है लीबिया अमेरिका के हाथ चला गया उसमें अब ईरान भी यदि अमेरिका के हाथ में चला गया तो चीन को बहुत बड़ा नुकसान होगा चीन की इज्जत तो मिट्टी में मिल ही जाएगी पर चीन को जो पेट्रोल मिल रहा है ईरान से वो भी बंद हो जाएगा और आ, तो ईरान चीन है वो किसी भी हालत में ये देख नहीं सकता कि अमेरिका पे भी ईरान पे अमेरिका का कंट्रोल आ जाए तो चीन को फिर अमेरिका चीन है उसके पास एक ही ऑप्शन बचेगा कि वो ईरान को मदद करे और पाकिस्तान यदि ईरान की साइड पे आएगा तो चीन है वो पाकिस्तान को मदद करेगा और चीन और पाकिस्तान मिलकर यदि भारत पे हमला करते हैं तो हमारे हथियार बनाने की फैक्ट्रियां तो खत्म हो गई है पिछले 20 साल में मनमोहन सिंह नरसिम्हा राव इन लोगों ने हथियारों की फैक्ट्रियां तो लगभग खत्म कर दी है तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचेगा कि हम अमेरिका के सामने हाथ जोड़ के बोले कि भाई हमें बचाने के लिए हथियार दो तो ऐसी स्थिति में फिर अमेरिका तो बोलेगा कि चलो हथियार तो दे देंगे लेकिन ये मिनरल माइन है वो हमारे नाम कर दो ये सारे तेल के कुएं हमारे नाम कर दो तुम्हारे एजुकेशन सिस्टम खत्म कर दो मतलब वो अपना मंचा काम करवाएगा तो और एंड में वो क्रिश्चियनिटी भी फैला देगा हिंदू धर्म भी खत्म कर देगा जैसा उसने दूसरे देशों में किया तो शॉर्ट टर्म ऑप्शन क्या है कि एक हम मान के चले कि भाई छह महीने आठ महीने बाद साल के अंदर युद्ध होने वाला है तो साल के अंदर युद्ध होने वाला है तो हम क्या कर सकते हैं भाई एक साल के अंदर तो फाइटर प्लेन तो बना नहीं सकते मिसाइल तो बना नहीं सकते एक साल के अंदर आज शुरू करेंगे तो शायद तीन चार साल के अंदर बन जाएंगे पर एक साल के अंदर बनाना तो बहुत मुश्किल है तो अभी एक ही ऑप्शन बनता है कि सारे सौ करोड़ एक सौ बीस करोड़ हिंदुस्तानियों को या तो पचहत्तर करोड़ वयस्क हिंदुस्तानियों को हर एक आदमी को बंदूक दी जाए पचहत्तर करोड़ बंदूकों का उत्पादन तीन महीने के अंदर पॉसिबल है मैं कैसे बोलता हूँ पॉसिबल है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तब रशिया इतना इंडस्ट्रियलिस्ट इतना समृद्ध देश नहीं था औद्योगिक दृष्टि से 1930 मैं 1940 की बात कर रहा हूं और दो साल के अंदर रशिया ने कुछ तीन करोड़ बंदूकों का उत्पादन किया था दो साल के अंदर तो ये 1942 की बात कर रहा हूँ 1942 में रशिया ने दो साल के अंदर दो करोड़ बंदूकों का उत्पादन किया था तो आज की तारीख में अब तो टेक्नोलॉजी काफी प्रोग्रेस कर गई है तो आज की तारीख में हम तीन महीने के अंदर 80 करोड़ बंदूकों का उत्पादन कर सकते हैं और यदि 80 करोड़ बंदूकों का उत्पादन हो जाता है हर एक आदमी के पास एक दो बंदूक आ जाती है तो फिर हमें पाकिस्तान या चीन के हमले से डरने की जरूरत कम हो जाएगी मतलब वो सेना हो सकती है हमला करे एयरफोर्स है वो तोड़फोड़ करे लेकिन सेना काफी अंदर तक पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी यदि हर एक आदमी के पास बंदूक हो और यदि हर एक आदमी के पास बंदूक नहीं होगा तो हमें लड़ने के लिए अमेरिका से हथियार मांगने पड़ेंगे फिर वो मिसाइल हो या प्लेन हो फिर अमेरिका एक पॉइंट के आने के बाद कन्वर्शन पे डिमांड करेगा और कन्वर्जन की डिमांड uh, बहुत सारे तरीके उनमें से अजमाएगा uh, अब आखिरी जो है वो मेरा प्रपोजल है इसमें कन्वर्जन कम करने के लिए वो है चैप्टर चैप्टर 35 चैप्टर 35 है कि सरकार का जो मंदिरों पे कब्जा है वो कैसे खत्म कर सकते हैं सरकारों का जो मंदिरों पे कब्जा है उससे कैसे कन्वर्जन बढ़ रहा है कि बहुत सारे गुजरात में तो सरकार का मंदिरों पे कोई कंट्रोल नहीं है मंदिर है वो ट्रस्टों के पास है और ट्रस्ट अपना काम करते हैं अच्छा बुरा जो भी है और कम से कम सरकार का कंट्रोल नहीं है लेकिन आंध्र प्रदेश में तमिलनाडु में और बहुत सारे जगह पे आ, मंदिर पे सरकार अपने अधिकारियों को रखती है और वो जो उनके लोकल ट्रस्ट थे उनको खारिज कर देती है तो जब वो पैसा सरकार के हाथ में आता है तो एक या दूसरी तरह से अधिकारी आधा तो खा जाते हैं और बाकी वो मिशनरियों को दे देते हैं जैसे कि वाईएसआर रेड्डी जो था आंध्र प्रदेश का सीएम उसने आंध्र प्रदेश के मंदिर से जो पैसा आता था वो कुछ 50-60 परसेंट मिशनरियों को दे देता था और उससे मिशनरियों को मंदिर के पैसे से कन्वर्जन करने का मौका मिल गया तो वो कैसे कम हो सकते हैं तो चैप्टर 35 में मैंने तरीका बताया कि गैजेट में हमें कानून छपवाना चाहिए गैजेट में कानून छपाना चाहिए वो है Hindu community trust act Hindu community trust act का जो मेरा प्रपोजल है वो इस तरह से है कि तीन स्तर के ट्रस्ट होंगे regional district level state level और नेशनल लेवल और एक होगा हिंदू ट्रस्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल का हिंदू ट्रस्ट स्टेट लेवल का और हिंदू ट्रस्ट सेंट्रल लेवल का और संप्रदायों का अपना ट्रस्ट बना सकते हैं जैसे स्वामीनारायण संप्रदाय को अपना अलग ट्रस्ट बनाना है तो वो भी बना सकते हैं जो भी संप्रदाय को अपना ट्रस्ट बनाना है वो ट्रस्ट बना सकते हैं जो भी व्यक्ति उस संप्रदाय का फॉलोवर है और संप्रदाय उसे अपना फॉलोवर मानता है वो उसका मेंबर बनेगा और हर साल जो कम्युनिटी ट्रस्ट का नंबर है वो उसके ट्रस्ट के अध्यक्ष को चुनेंगे और उस पर राइट टू रिकॉल होगा यानी कि मान लो गुजरात में कोई संप्रदाय है उसके एक करोड़ अनुयायी है और एक करोड़ व्यक्तियों ने अपने संप्रदाय के अध्यक्ष को रखा और वो अध्यक्ष है उसके वो सारे प्रॉपर्टी का मालिक नहीं होगा संचालक होगा प्रॉपर्टी जो है मंदिर है मंदिर की जमीन है मंदिर का सोना है वो उस कम्युनिटी ट्रस्ट की प्रॉपर्टी होगी उसका संचालन करेगा और यदि उनको लगता है कि ये ठीक से संचालन नहीं कर रहा पैसों का गबन कर रहा है या तो उद्देश्यों के लिए नहीं कर रहा तो उसे बदल सकते हैं ये सिस्टम आज की तारीख में एसजीपीसी में है सिख गुरु द्वारा प्रबंधक कमेटी है उसमें राइट टू रिकॉल नहीं है लेकिन चुनाव होते हैं सिख गुरु द्वारा प्रबंधक कमेटी जो है सारे गुरु द्वारा जो है सिखों के वो एसजीपीसी के पास होते हैं और एसजीपीसी के जो अध्यक्ष वगैरह है वो सिख उनका चुनाव करके उन्हें चुनते हैं और वो पूरे गुरुद्वारा का संचालन करते हैं और उससे जो पैसों का गबन होता है वो कम हो जाता है जब इलेक्शन आ जाता है और, और राइट टू रिकॉल आने के बाद तो गबन और भी कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली अभी जो मंदिरों पर सरकार का कंट्रोल है और सरकार कुछ कुछ राज्यों में वो पैसा मिशनरियों को दे देती है कन्वर्जन के लिए वो कम हो जाएगा मंदिर पे कंट्रोल आ जाएगा सीधा डिस्ट्रिक्ट ट्रस्ट uh, का या तो स्टेट ट्रस्ट का और नेशनल ट्रस्ट है उसके पास मैंने जो प्रपोजल की उसके पास सिर्फ चार मंदिर रहेंगे एक तो राम जन्मभूमि में जो मंदिर बनेगा वो फिर कृष्ण जन्मभूमि काशी विश्वनाथ और uh, अमरनाथ तो नेशनल हिंदू ट्रस्ट है उसकी भूमिका कम है उसके पास सिर्फ चार ही मंदिर रहेंगे इसके सिवा जितने मंदिर है वो स्टेट कम्युनिटी ट्रस्ट के पास और यदि कुछ कुछ मंदिर संप्रदायों के हैं तो वो उस स्टेट का जो संप्रदाय का कम्युनिटी ट्रस्ट है उसके पास और जो छोटे मंदिर है वो डिस्ट्रिक्ट कम्युनिटी ट्रस्ट के पास रहेंगे तो इस तरह से मंदिरों पे डायरेक्ट ओनरशिप और कंट्रोल हो जाएगी वहाँ के धर्म के लोगों का इसी तरह से यदि मुस्लिम चाहे तो मुस्लिम कम्युनिटी ट्रस्ट बना सकते हैं ऑलरेडी वकफ बोर्ड है वहाँ पे पर वकफ बोर्ड में अभी अपॉइंटमेंट होता है इलेक्शन नहीं होता और राइट टू रिकॉल नहीं है तो इस तरह का यदि अरेंजमेंट वो चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं क्रिश्चियन भी कर सकते हैं और क्रिश्चियन कम्युनिटी ट्रस्ट भी इस तरह से बन सकता है कि चर्च पे कंट्रोल विदेशों का ना हो सीधा यहाँ के भारत के क्रिश्चियन का हो क्योंकि तो भारत के क्रिश्चियन है चर्च पे कंट्रोल उनका होना चाहिए न कि विदेशों का तो इसके द्वारा जो मंदिरों पे कंट्रोल है सरकार का वो खत्म हो जाएगा वो कानून मैंने पूरा ड्राफ्ट इस पे दिया है वो ड्राफ्ट यदि गैजेट में आता है तो सरकार का मंदिरों पे कंट्रोल खत्म हो जाएगा तो बस मैं समापन करूंगा कन्वर्शन काफी बढ़ रहा है आंध्र प्रदेश में 15 परसेंट हो गया गुजरात में कम है तीन चार परसेंट है बाकी राज्यों में उड़ीसा में कुछ 15 परसेंट बोला जाता है तमिलनाडु में 15-20 परसेंट और अलग अलग राज्यों में है और रोकने के तरीके में जो बताता हूँ वो मेरे मानने में यह है कि हम कार्यकर्ताओं को एमआरसीएम का कानून पांच पेज का एमआरसीएम का कानून गैजेट में छपा देना चाहिए तो गरीबी कम हो जाएगी फिर right to recall district education officer उससे भी एजुकेशन सुधरेगा कन्वर्जन कम हो जाएगा राइट टू रिकॉल फिर ये पैटर्न का कानून निकाल दो तो दवाइयाँ सस्ती हो जाएगी कन्वर्जन कम हो जाएगा सेना को मजबूत करने के प्रयत्न शुरू करने चाहिए क्योंकि अंत में अमेरिका की सेना आने वाली है बड़े पैमाने पर कन्वर्जन करने के लिए और डिक्टेटरशिप का विचार छोड़ देना चाहिए बकवास विचार है और यदि डिक्टेटरशिप हो तो राइट टू रिकॉर्ड डिक्टेटर के साथ होना चाहिए यानी कि हमें पता लगे कि भाई डिक्टेटर है वो करप्ट हो गया है जनरल जिया की तरह या तो मोबुदू की तरह जायरे का जो था मोबुदू करप्ट हो गया तो नागरिक है वो डिक्टेटर को बदल सके यानी डिक्टेटरशिप होनी नहीं चाहिए और यदि हो तो राइट टू रिकॉर्ड डिक्टेटरशिप के साथ होनी चाहिए और अभी जो मंदिर है उस पर सरकार का कंट्रोल हटाना चाहिए अब इसमें जो दूसरे नेता है कहने के लिए राष्ट्रवादी है लेकिन अंदर से वो साफ साफ ऐसे कानूनों की तारीफ करते हैं जो कि मिशनरियों का फायदा हो और इसमें एक नाम जो आज बहुत चर्चा में इसलिए मैं खास उल्लेख करना चाहूँगा वो है सुब्रमण्यम स्वामी कि वो अपने आप को बताते हैं कि वो हिंदू धर्म के बहुत बड़े संरक्षक है हिंदू धर्म के योद्धा है और हिंदूवादी बताते हैं अपने आप को लेकिन वो मल्टीनेशनल कंपनी और मिशनरियों को फायदा हो इसलिए उन्होंने राइट टू रिकॉल का विरोध करना शुरू किया 1977 में वो राइट टू रिकॉल की बहुत बात करते थे जयप्रकाश नारायण के साथ थे जयप्रकाश नारायण ने तो राइट टू रिकॉल को जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में लिखवाया था लेकिन अभी वो नहीं चाहते कि राइट टू रिकॉल आएगा तो मल्टीनेशनल कंपनी और मिशनरी को बहुत नुकसान हो जाएगा क्योंकि जो भी नेता है आप तो क्या है कि वो सौ दो हजार नेताओं को रिश्वत देकर काम चला लेते हैं मल्टीनेशनल कंपनियों के मालिक और मिशनरी लेकिन राइट टू रिकॉल आएगा तो काम निकलवाना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि यदि लोगों ने देखा कि भाई आदमी तो एमएलसी या मिशनरी का एजेंट बन चुका है तो उसको बदल देंगे तो राइट टू रिकॉल से मल्टीनेशनल कंपनी और मिशनरी को नुकसान है और इसलिए सुब्रमण्यम स्वामी ने राइट टू रिकॉल का विरोध करना शुरू कर दिया उनका यूट्यूब पर आपको वीडियो मिल जाएगा जिसमें उन्होंने बोला है कि राइट टू रिकॉल बकवास चीज है और वो कार्यकर्ताओं को बोलते हैं कि राइट टू रिकॉल का विरोध करो और एकदम झूठी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि राइट टू रिकॉल से इंस्टेबिलिटी आएगी इतने सारे देशों में राइट टू रिकॉल है कहीं भी स्टेबिलिटी नहीं आई ऊपर से स्टेबिलिटी बढ़ गई है क्योंकि जब राइट टू रिकॉल आता है तो आदमी के ऊपर लटकती तलवार होती है वो तमीज से काम करता है तमीज से काम करता है वो तो निकालने की जरूरत नहीं पड़ती ऊपर से वही आदमी दोबारा चुन के आ जाता है जहां जहां राइट टू रिकॉल है वहां री इलेक्शन रेट जाता है खैर तो ऐसे जो झूठे हिंदूवादी है मैं कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि उनसे थोड़ा संभाल के रहे क्योंकि वो कहने की बात और होती है करने की और 1999 में तो उन्होंने सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश की थी वो बोलते नहीं आज पर आप गूगल करो दो कीवर्ड पे गूगल करना सुब्रमण्यम स्वामी सोनिया गांधी जयललिता 1999 तो 1999 में इन्होंने कहा था कि सोनिया गांधी लक्ष्मी का अवतार है जयललिता सरस्वती का अवतार है और मायावती दुर्गा का अवतार है ये उनके शब्द हैं मैं कोई शब्द में उलट नहीं कर रहा मतलब जो जो सोनिया गांधी जो कि तो समझो मैं उसे वेटिकन की एजेंट बोलता हूं सर से पांव तक वो मल्टीनेशनल कंपनी की एजेंट है सर से पांव तक वेटिकन की एजेंट है उसको उन्होंने सरस्वती लक्ष्मी से कंपेयर किया कि ये सोनिया देवी तो वो देवी का अवतार है साक्षात लक्ष्मी देवी है सरस्वती देवी है और वो छोड़ो उन्होंने जो बयानबाजी की वो तो बयानबाजी पर वो राइट टू रिकॉल का विरोध कर रहे हैं ताकि मल्टीनेशनल कंपनी और मिशनरियों को फायदा हो ये मैंने कानूनन उपाय बताया कि कौन-कौन से कानून से हम कन्वर्जन कम कर सकते हैं धन्यवाद